उन लोगों के पास जो भी नई नसीहत रहमान की तरफ से आती है वो उससे मुंह मोड़ लेते हैं